और जब वो मदियन के कुएं पर आए तो उस पर लोगों का एक हुजूम पाया जो जानवरों को पानी पिला रहे थे और उनसे अलग दो लड़कियों को पाया जो अपनी बकरियों को रोके खड़ी थीं मूसा सलाम ने फरमाया तुम दोनों इस हाल में क्यों खड़ी हो वो दोनों बोली हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती जब तक चरवाहे अपने जानवरों को वापस न ले जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं